यह उपनिषद भाग आरंभ के पहले कर्मकांड और उपासना भी कही गई कर्म उपासना निष्काम होकर के अनुष्ठान करे तो अंतकोण शुद्ध होता है अंतकोण शुद्ध होने पर वैराग्य होता है जिज्ञासा होती है नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा प्री गुरु के समीप में जाना चाहता है तो ज्ञान से ही मुख्य अन्य कर्म से कुछ जो फल मिले सो संसार के अंतर्गत ये कहने पर आगे आत्म तत्व ज्ञान के लिए इच्छा होती इसके ऊपर शंका करते हैं कर्म कांड से ही तथा पिटिका में तथापि कर्मकांडे देह व्यतिरिक्त आत्मनु विधि अपेक्षित्व निरूपितत्वाद पुनर्जिज्ञासा कथम जिज्ञासो जिज्ञासो उपनिषद आरभ्यते आशंका कर्मकांड में तो देह वितरित आत्मा सिद्ध है विधि अपेक्षित है यजेत स्वर्ग काम जो स्वर्ग चाहता है याग करे स्वर्ग तो मरने के बाद प्राप्त करेगा देह से अतिरिक्त आत्मा हो परलोक संबंधी तब तो याग विधि सार्थक है तो याग विधि के लिए अपेक्षित है देह व्यतिरिक्त आत्मा है ये निश्चित हो गया कर्मकांड में मीमा पूर्व मीमांसा में फिर जिज्ञासा आत्मा विषय में जिज्ञासा नहीं होगी तो जिज्ञासु के लिए उपनिषद आरंभ क्यों ऐसा करने पर संग्रह वाक्य है कर्म विषय चानुक्ति तद विरोधित्वात् कर्म विषय में अनुक्ति तद विरोधित्वात् कर्मकांड में आत्म तत्व का कथन नहीं किया गया शुद्ध आत्म तत्व का देहादि बिना आत्मा इतनी चाहिए किंतु जो आत्मा क्षत पिपाशा रहित तो एक अद्वितीय उसका कथन नहीं किया गया टीका में अस्ति देहादि व्यतिरित परलोक संबंधी आत्मा एतावदेव स्वर्ग आदि चोदना भी अपेक्षितम देहादि व्यतिरित परलोक संबंधी आत्मा है इतने स्वर्ग आदि भीति के लिए अपेक्षित है न तो ब्रह्मात्म तत्वम ब्रह्मात्म तत्व आत्म तत्व है देहादि चतृत ये अपेक्षित नहीं तस्य कर्म विरुद्धत्वात् ऐसे ब्रह्मात्व तत्व ज्ञान हो जाए तो कर्म नहीं कर सकता है ततस्त जिज्ञासा युक्ता इसलिए आत्म तत्व शुद्ध आत्म तत्व ब्रह्म तत्व जानने की इच्छा होगी क्योंकि कर्म कांड में नहीं कहा गया संग्रह वाक्यम विवृणति ये तो संग्रह संक्षेप वाक्य हुआ वाक्य भाषा में इसे भगवान भाष्यकार ने इसे संक्षेप वाक्य बना करके फिर उसकी व्याख्या है ये वाक्य एक संग्रह संक्षेप में संक्षेप से कहा गया कर्म विशेषानुक्ति तद विरोधित्वाद ये संग्रह वाक्य की व्याख्या स्वयं करते भगवान भाष्यकार अस्य विजिज्ञासितव्य से आत्मतत्व से कर्म विषय अवचनम विजिज्ञास विजिज्ञासितव्य ज्ञापयितुम इष्ट विजिज्ञासित ज्ञा जानने को इष्ट जो आत्मतत्व इसका कर्म विषय में नहीं कहा गया अवचनम क्यों नहीं कहा गया कस्माद इति चेत आत्मनो ही यथावद विज्ञानम कर्मणा विरुद्ध थे आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो कर्म से विरुद्ध होता है ज्ञान तो होने पर अहम अकर्ता अद्वितीय ब्रह्म मेरे से बिना कुछ भी नहीं है ये ज्ञान होने पर कर्म नहीं करेगा कर्म तो जब करता है मैं करता हूँ कर्म प्राप्त करके कर्म फल स्वर्ग भोग करूँगा भेद ज्ञान होने पर ही कर्म करेगा अद्वैत ज्ञान होने पर कर्म का विरोध होने से कर्मकांड में आत्मतत्व का कथन नहीं किया गया निरतिशय ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा विजिज्ञापयित यहाँ तो इष्ट ज्ञान कराने आचार्य शिष्य को ज्ञान कराएंगे निरतिशय ब्रह्म स्वरूप आत्मा है आत्मा निरतिशय ब्रह्म जिससे अतिशय को है ही नहीं शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा है तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदम उपासत इत्यादि बार-बार कहेंगे वही ब्रह्म है नेदम न इदम इदम करके जो उपासना करते हैं भिन्न दृष्टि से वो आत्मा ब्रह्म नहीं है ब्रह्म सब प्रमाण का विषय है यन मनसा नमन इत्यादि टीका में निदेति ब्रह्मस्वरूप आत्मा उपनिषदि विज्ञापयित वस्तु कथम एतावता कर्मणा विरोध इति आकांक्षाया माह ठीक है उपनिषद में निरतिशय ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा निरतिशय ब्रह्म स्वरूपम यस्य आत्मन स आत्मा निरतिशय ब्रह्म स्वरूप आत्मा निरतिशय ब्रह्म स्वरूप है ये उपनिषद की तरह बीजी ज्ञापयित ज्ञापयितुम इष्ट हो फिर भी कथम एतावता कर्मणा विरोध तो कर्म के साथ विरोध क्यों होगा इतने मात्र से इति आकांक्षा माह नहीं स्वराज्य अभिषिक्तो ब्रह्मत्वम गमित कंचन नमितमिच्छत्य इच्छत्य तो ब्रह्मास्मि इति संबुद्धो न कर्म कारितुम शक्यते स्वराज्य अभिषिक्त जो स्वराट व स्वामेव राजयति इति स्वराट तस्य भाव स्वराज्यम स्वयं स्वराज्य में अभिषिक्त हो गया ब्रह्मत्व गमित ब्रह्मत्व को गमित ज्ञापित ब्रह्म तो ज्ञान कराया अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया ऐसा जो ज्ञानी कंचन नमितम इच्छति किसको नम नम नमन करना नहीं चाहता है नमितम इच्छति नंता इव आचरितम इतर्थ नमति नमः नम धातु से पचादियत कर नम बना फिर नम एव आचरती तो न, नहीं तो नम धातु से ईडागम चिंत्य नमी तुम नहीं बनेगा तुम बनेगा तो नम एव आचरती नमस्कार कैसे करेगा कर नहीं करेगा किसी को अतो ब्रह्मास्मिति संबुद्ध तो ब्रह्मास्मिति ज्ञान हो गया तो किसका नमस्कार किससे कोई दूसरा है ही नहीं तो न कर्म तुम शक्य थे कर्म फिर किस लिए करेगा टीका में देवाराधन रूप ही यागो ब्रह्मविच आत्म भूत भूत पशु से व्यावृत कथन देवता प्रणमेत इत्यर्थ देवता उद्देशन द्रव्य त्याग याग का स्वरूप है देवता उद्देशन द्रव्य त्याग देवता का उद्देश्य के द्रव्य त्याग करते हैं और जब हवनादि करते हैं यसे देवताय हविर्गृहत स्यात् ता मन साध्याय वसट तो मन से ध्यान करे अभिग्रहण करते समय मंत्र पाठ करते समय देवताओं का ध्यान करके याग हवन आदि कर्म होता है देवता आराधन रूप ही याग याग में देवता आराधन देवता के उद्देश्य द्रव्य त्याग करते हैं ब्रह्म विच सर्वदेवता आत्मभूत सारे देवता का स्वरूप आत्मस्वरूप ब्रह्म ज्ञानी हो गया जब तक भेद बुद्धि है तब तक देवताओं के पशु के समान है मनुष्य जिस प्रकार पशु उपकार करता है मनुष्य का मनुष्य उसको खिलाता है पिलाता है इसी प्रकार ये मनुष्य देवताओं के लिए याग आदि करते हैं देवता उनको फल दे देते हैं जैसे पशु को खिला दिया थोड़ा पानी पिला दिया इसी प्रकार मनुष्य को फल मिल जाता है मनुष्य भी कर्म करता है पशु के समान है तो किंतु ज्ञान हो जाने पर वो पशु भाव नहीं रहा मनुष्य में पशु भाव से व्यावृत हो अज्ञान जब तक है तब तक पशु के समान अन्य अशु अन्य अहम अस्मृति न सवेद यथा पशु रेव सदैवाना जब तक अन्य अशु देवता उपास्य मेरे से भिन्न मैं भिन्न हूँ ऐसा जब तक ज्ञान है तब तक न स वेद वो नहीं जानता है अज्ञानी है यथा पशु रेवम सदेवानाम पशु जिस प्रकार मनुष्य का ऐसा वो देवताओं के पशु के समान है भेद दृष्टि करने वाला तो ज्ञान हो जाता अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो पशु भाव से व्यावृत हो गया तो कथन देवता प्रणाम तो फिर अपने से देवता कोई है ही नहीं किसको प्रणाम करेगा पशु तो समाप्त हो गया ब्रह्मस्वरूप हो गया सो आत्मस्वरूप सारे देवता जितने सब आत्मस्वरूप हो गए ब्रह्मा तो तत्व ज्ञानम कर्म विरुद्धम चेत तो ब्रह्मा तो तत्व का ज्ञान हो गया तो वो कर्म नहीं कर सकता है वो तो कर्म विरुद्ध है तरी श्रुत्या ब्रह्मात्मत्वोपदेशेन अर्थात कर्म तित्याजयसितम इत अनुष्ठानमेव प्रसज्येत अतो जिज्ञासा हेतुत्वेन अभिमत कर्म संबंधो असंगत इत आशंकाम उद्भाव्य अभिहितम संबंधम समर्थयति शंका करते ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान यदि कर्म विरुद्ध हुआ तो जब ब्रह्मात्म तत्व का उपदेश करती श्रुति ब्रह्मात्म तो उपदेश है ना तुम तो तत्वम से आदि उपदेश करने पर तो फिर कर्म विरुद्ध होने से कर्म त्याज इसीतम कर्म त्याग करने को इष्ट है श्रुति का अभिप्राय कर्म त्याग करो ब्रह्मा ज्ञान होने पर कर्म का विरुद्ध है अश्रुति ज्ञान का उपदेश करती इसका अभिप्राय साक्षात नहीं अर्थ से सिद्ध हुआ ज्ञान हो गया तो कर्म नहीं करेगा तो कर्म त्याग कराना चाहती है तो यदि कर्म त्याग कराना चाहती श्रुति तो अनुष्ठान में था तो। श्रुति कर्म त्याग करानी चाहती है तो पहले क्यों कर्म करना है अनुष्ठान कर्म कोई करेगा नहीं और नहीं करेगा तो जिज्ञासा हेतु तुन अभिमत कर्म ना और जिज्ञासा के हेतु है कर्मकांड कर्मकांड से कर्म करेगा तो जिज्ञासा होगी ये जो कहा गया था अभिमत कर्मकांड के साथ संबंध जो कहा गया था हेतु हेतु तो मत भाव संगत कर्मकांड में विहित तो कर्म अनुष्ठान करेगा निष्काम होकर के अंतगुण शुद्धि होकर जिज्ञासा होगी आगे ज्ञान कांड ये जो कहा गया था वो संगत हो जाएगा श्रुति जब ज्ञान का उपदेश करती कर्म त्याग कराना चाहती है जो श्रुति का अभिप्राय निश्चित हो गया कर्म त्याग कराना चाहती है तो पहले ही कोई कर्म नहीं करेगा अनुष्ठान हो जाएगा तो फिर जिज्ञासा है तो कर्म कांड कैसे होगा उसके साथ इसका संबंध जो कहा गया वो तो ठीक नहीं इति शंका उद्भाव्य अभिहितम संबंधम समर्थयति ये शंका को शंका को उद्भावन करके प्रकट करके संबंध जो संबंध कहा गया हेतु तो हेतु मत संबंध उसका समर्थन करते हैं भाष्य में नहीं आत्मानम अवाप्तार्थम ब्रह्म मन्यमान प्रवृतिम प्रयोजनवती पश्यति भाष्य में पहले आत्मानम अवाप्तार्थम ब्रह्म मन्यमान अवाप्त अर्थ यस्य स्वभावतार्थम ब्रह्म तव अर्थ प्राप्त है ब्रह्म ही सब ब्रह्म से बिना कुछ नहीं तो आत्मा को जब ऐसे ब्रह्म मानता हम अस्मि ब्रह्म अभावतार्थम ब्रह्म आत्मा को सब कुछ प्राप्त हो गया ब्रह्म स्वरूप में हूं इसे मानने वाला प्रवृत्तिम प्रयोजनवतिम पश्यति कोई प्रवृत्ति किसी कर्म करने के लिए प्रयोजन वाला ऐसा नहीं दिखता है ये साधक मन्यमान अहम ब्रह्म जब साक्षात्कार हो गया ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं सब कुछ प्राप्त हो गया तो फिर कर्म करने के लिए क्यों प्रवृत्त होगा प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है न च निष्प्रयोजना प्रवृत्तिर अतो विरुद्ध एव कर्मणा ज्ञानम और प्रवृत्ति निष्प्रयोजना नहीं होती है प्रवृत्ति होती तो उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए निष्प्रयोजन नहीं मंदो भी प्रवर्तते प्रयोजन अनुद्दिश्य प्रयोजन के बिना मंदबुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं होता है कुछ प्रवृत्ति होती है तो कोई प्रयोजन है जो देखा आत्मज्ञान हो गया आत्मा से बिना कुछ भी नहीं सब कुछ मिल गया तो प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी इसलिए विरुद्ध तेव कर्मणा ज्ञान ज्ञान से कर्म विरुद्ध हुआ अतः कर्म विषय अनुक्तिर विज्ञान विशेष विषय एवं जिज्ञासा इसलिए कर्म विषय अनुक्ति कर्मकांड में नहीं कहा गया आत्म तत्व का विज्ञान विशेष विषय एवं जिज्ञासा विज्ञान विशेष विषय विज्ञान विशेष शुद्ध तत्व ज्ञान के लिए आत्मा ब्रह्मत्व ज्ञान ये विज्ञान विशेष है ज्ञान विशेष क्या है अहम से ब्रह्म ये ज्ञान खाली ज्ञान ही विज्ञान विशेष को विषय करने वाली जिज्ञासा ज्ञान है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान बहुत ज्ञान है तो जो ज्ञान की इच्छा है जिज्ञासा इच्छा इच्छा का विषय ज्ञान है वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है विज्ञान विशेष विशेष विज्ञान विशेष विज्ञान की अहम ब्रह्म निरत से ब्रह्म अद्वितीय में हूं ये ज्ञान तद विषय का जिज्ञासा ज्ञान तो इच्छा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है आगे फिर पूर्व पीछे कहता है तो कर्म करता त्याग करना है तो फिर कर्म करना क्या जरूरत है कर्म अनारंभयति चे न निष्काम से संस्कार अर्थत्वात् कर्म अनारंभ है चेत कर्म आरंभ कोई नहीं करेगा जब ज्ञान का उपदेश श्रुति करते और ज्ञान कर्म का विरुद्ध फिर कर्म नहीं करेगा कर्म त्याग कराना चाहती जो श्रुति ज्ञान उपदेश करती उसका अभिप्राय क्या है कर्म त्याग करो ज्ञान होगा तो कर्म नहीं करेगा तो शुरू से ही कर्म क्यों करना कर्म होती चेन न सिद्धांति कहता निष्काम से संस्कारार्थत्वात् कर्म यद्यपि स्वर्गादि फल के लिए विहित है किंतु निष्काम होकर के कर्म उपासना जो करेगा संस्कारार्थ संस्कार के लिए शुद्धि के लिए अंतगण शुद्धि के लिए यदि आत्मविज्ञानेन आत्मा अविद्या विषयत्वात् परित्याजयितम कर्म तत प्रक्षालनाधि पंक से दुराद स्पर्शन वरम इत अनारंभ एव कर्मण श्रेयान अल्प अल्पफलत्वाद आयस बहुलत्वाद तत्व ज्ञानादेव च श्रेय प्राप्ते रीति चेत सत्यम ये संग्रह वाक्य है कर्म अनारंभति चे न निष्काम से संस्कार अर्थत्वात् संक्षेप वाक्य हुआ इसमें पूर्व पक्षी का वाक्य है कर्म अनारंभति चेत ये पूर्व पक्षी का वाक्य पहले पूर्व पक्षी वाक्य का अर्थ भाष्य में यदि आत्मविज्ञान न आत्मा अविद्या विषयत्वात् परित्याजयसितं कर्म आत्मविज्ञान न कर्म परित्याजयसितं परित्याजितमिष्टम आत्मविज्ञान से कर्म त्याग करना इष्ट है क्योंकि आत्मा अविद्या विषयत्वात् आत्मन अविद्या आत्मा अविद्या आत्मा का अज्ञान विषय है कर्म अज्ञान से ही कर्म किया जाना अज्ञान से अपने से भिन्न स्वर्ग आदि मान करके कर्म करेगा आत्मन अविद्या आत्मा अविद्या का विषय कर्म होने से ज्ञान से उसको त्याग करना इष्ट है परित्याजितम परित्याजितमिष्टम कर्म कर्म त्याग करना श्रुति का यदि अभिप्राय है तो यदि त्याग करना है तो पहले क्यों कर्म करना तत आदि पंक से स्पर्श न परम हाथ पैर में कीचड़ लगा फिर जाकर धोया पंक से प्रक्षालनादि स्पर्श स्पर्शन कीचड़ लगाना ये धोना ही है तो पहले स्पर्श ही नहीं करो दुराद स्पर्शन स्पर्शन ही उसका पीछे उत्कृष्ट है इसलिए कर्म त्याग करना है तो पहले ही कर्म नहीं करो अनारंभ एव कर्मण श्रेयान कर्म का आरंभ नहीं करना ही अच्छा है और अल्प फलत्वाद कर्म का फल तो अल्प है ज्ञान से तो ब्रह्म में हूँ साक्षात्कार हो गया सब कुछ मिल गया कर्म से थोड़ा फल मिलता है अल्प फल है आयास बहुलत्वाद ज्ञान के लिए बैठ बैठ कर चिंतन करो साक्षात्कार हो जाएगा कर्म के लिए धन खर्च करना पड़ेगा उपवास रहो ब्राह्मण को बुलाओ फिर कितने सामग्री इकट्ठी करो कितने परिश्रम करना पड़ता है आयास बहुलत्वात् और जो कर्म से प्राप्त होगा वो तो अनित्य फल है ज्ञान से ही मुख्य मिल जाएगा तत्व ज्ञानादेव श्रेय प्राप्ति है तत्व ज्ञान से श्रेय कल्याण मुख्य प्राप्त हो जाने से कर्म करना कोई जरूरत नहीं थी चेत यहाँ तक शंका हुई सिद्धांत कह क्या न निष्काम से संस्कार अर्थत्वाद सिद्धांत कहता सत्यम तो तुमने कहा ठीक है सत्यम अर्धांगी क्या रे ठीक है एतद अविद्या विषयम कर्म अल्पफलत्वादि दोष दोषवत बंध रूपम च सकामस्य ये जो दोष आपने कहा ठीक है अविद्या विषयम कर्म अविद्या के अज्ञान का विषय अज्ञान में ही कर्म होता है अल्प फलत्वादि दोषवत अल्प फल आयस बाहुल्य ये सब दोष वाला है कर्म और बंध रूप भी कर्म है कर्मणा बद्धते जंत्र विद्याजी में मुच्यते बंध रूपे सब किंतु सकामस्य कामना से जो करता है उसके लिए बंध रूपे है और अल्प फल है ये दोष वाला है कामान्य कामयते इतिनु कामयमान इत्यादि श्रुतिभ्य जो विषय की इच्छा करता है इसे कामना करने वाले के और निष्काम के लिए कर्म तो अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके लिए व्यर्थ नहीं है न निष्कामस्य निष्काम के के लिए बंध रूप नहीं जो कर्म बंधन का कारण है वही कर्म ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष का कारण होता है निष्काम का तस्य तो संस्कार कर्माणि भवन्ति निष्काम के लिए कर्म संस्कार शुद्धि के लिए अंतगुण शुद्धि के लिए अंतगुण शुद्धि के द्वारा जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति मोक्ष तनिर्वर्त निर्वर्तक आश्रय प्राण विज्ञान सहितानि केवल कर्म नहीं कर्म का निर्वर्तक निर्वर्तक संपादक रूप जो आश्रय है कर्म का आश्रय संपादक प्राण निर्वर्तक ही आश्रय वही प्राण हिरण्यगर्भ प्राण विज्ञान प्राण उपासना प्राण उपासना के साथ कर्म सब अंतगण शुद्धि के लिए निष्काम होकर निष्काम होकर करे जितने कर्म उपासना सब सब ज्ञान प्राप्ति का साधन है परंपरा से अंतगुण शुद्धि के द्वारा टीका में उत्पत्ति विधि विहितानाम कर्मणाम संस्कारार्थत्वे प्रमाणमः उत्पत्ति विधि विहितानाम कर्मणाम टिप्पणी में दिया है विधि चतुर्विध चार प्रकार विधि है उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि प्रयोग विधिश्च पहले कर्म स्वरूप मात्र बोधन करने वाले विधि का नाम उत्पत्ति विधि कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं पशुना यजेत यजेत इत्यादि वाक्य है अत्र मात्र पदेन उत्पत्ति विधे कर्मण फलादिना सह संबंध बोधकत्व उत्पत्ति कर्म स्वरूप मात्र बोधक कर्म स्वरूप को ही केवल बोधन कराने वाले विधि को उत्पत्ति विधि कहते मात्र पद दिया मात्र पद देने से क्या है उत्पत्ति विधे कर्मण फलादिना स संबंध बोधकत्वम फल संबंध बोधक होगा तो नहीं फल बोध संबंध बोध होगा तो अधिकार विधि कहते हैं जहाँ फल संबंध नहीं केवल कर्म विधान है उसको कहते उत्पत्ति विधि मात्र कहन से कल फल संबंध बोध का नहीं सही अग्निहोत्रम होती ये वाक्य अग्निहोत्रम होती कोई फल नहीं कहा गया उत्पत्ति विधि उत्पत्ति विधि के आगे दूसरा विधि कौन है हैं विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियोग विधि एक प्रधान एक अंग प्रधान कर्म का अंग द्रव्य देवता मंत्र आदि सो अंग होते हैं अंग प्रधान के संबंध को बोधन कराने वाले विधि का नाम विनियोग विधि यथा दधना जी होती अग्निहोत्र में ज्योति तब अग्निहोत्र विधान कर लिया ज्योति के द्वारा हवन का अनुवाद करके दधना दधिरूप गुण का विधान किया गया दधि है अंग इसी प्रकार ये विनियोग योग विधि के लिए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या प्रमाण है अंगांगी बात बोधन करने के लिए और अधिकार विधि कर्मजन्य फल साम्य बोधक विधि अधिकार विधि कर्मजन्य जो फल फल साम्य स्वामित्व फल का जो स्वामी फल का भोक्ता उसको बोधन कराने वाली विधि दर्श दर्श पूर्णमासाभ्याम सर्ग कामो यजेत स्वर्ग काम ही फल का स्वामी है अधिकार विधि कहते कर्मजन्य फल साम्यम कर्मजन्य फल भुक्तृत्वम कर्मजन्य फल स्वामित्व का तो फल भुक्तृत्व कर्मजन्य फल का जो भोग करेगा वही स्वामी है सच यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप यजेत स्वर्ग काम स्वर्ग चाहने वाला या करे वही फल भोग करेगा ये हो गया अधिकार विधि प्रयोग प्रासुभाव बोधक विधि प्रयोग विधि प्रयोग अनुसार करने के लिए बहुत अंगों का अनुसार एक साथ तो नहीं हो सकता है क्रम से करना पड़ेगा क्रम से करेंगे तो एक दो आज कर दिया फिर दो चार दिन पंद्रह दिन के बाद और कुछ किया ये नहीं आ, हाँ, करना है तो पूरा करना है एक थोड़े करके फिर भटका फिर थोड़े करके लघु कौंत को थोड़ा शुरू किया फिर भागा फिर कुछ दिन का आया फिर रेली संज्ञा प्रकरण सरलिंग हो गया फिर भागा एक साल के बाद आया सब भूल गया फिर आई उनरेली फिर फिर भागा ऐसे भागा फिर आया फिर भागा पूरा होता ही नहीं क्योंकि पूरा करने के लिए समय लगता है दो तीन चार महीना में वैराग्य हो जाएगा फिर आएगा तो कहाँ शुरू करेगा फिर नत्वा सरस्वती ऐसे नहीं करना है तो पूरा करना है आरंभ के तो उसको पूरा करना चाहिए इसी प्रकार यहाँ कर्म आरंभ करना है तो प्रयोग प्रास भाव प्रास शीघ्रता एक साथ नहीं कर सकते तो शीघ्र करना उसको कर्म शीघ्र करने के लिए प्रासुहा शीघ्र भाव बोधक विधि प्रयोग विधि प्रयोगस्य एक कर्मतापन अंग प्रधानात्मक कर्म संघातस्य प्रासुभाव एक कर्मतापन अंग प्रधानात्मक अंग प्रधान मिल करके एक कर्म होते हैं इसमें एक कर्मत्व को प्राप्त हुए अंग प्रधानात्मक जो कर्म कर्म समुदाय है समुदाय का प्रासुभाव शीघ्रता एक साथ तो नहीं हो सकता है तो उत्तरोत्तर कर्मण विलंब राहित्यम तदबोधक आगे आगे कर्म बीच में विलंब नहीं पूरा एक बार बाद दूसरा एक बार बाद दूसरा ऐसे क्रम से करते जाए सच प्रयोग विधि प्रयाज आदि अंग जात वाक्य के में आपन्नो दस पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत इत्यादि प्रधान विधि रेव वही प्रधान विधि है किंतु प्रयाज आदि अंग वाक्य को ले करके मिल करके एक वाक्य होता है एक वाक्य है पूरा एक अर्थ बोधक होकर के दर्श पुनवासाभ्याम यजते स्वर्ग काम फिर प्रयाज बोधक विधि ईडो यजति तनुनपातम यजति बरि रजति ऐसे सब प्रयाज या गए मिल करके एक ही होता है प्रधान अंग प्रधान विधि ये अंग विधि को मिला करके अयम च पूर्वोक्त विधि त्रय मेलनात्मक एव न तो अतिरिक्त जो प्रयोग विधि हुआ उत्पत्ति विधि अधिकार विधि और विनियोग विधि सब मिला करके ही हो गया तो प्रयोग विधि हो गया सब मिला करके सब एक वाक्य होकर कर्म करना अत्र विनियोग विधि उत्पत्ति विधो एव उपसर्जनीय भवति उत्पत्ति विधि में उपसर्जन गौण हो जाता है मुख्य उत्पत्ति विधि इति अधिकार प्रयोग विधियोश्च फल संबंधन काम्यांतर भावात अधिकार विधि प्रयोग विधि भी फल संबंध के साथ संबंध हुआ काम्य के अंतर्भाव हो गया संस् न संस्कारार्थत्वम काम्य कर्म होगा तो कर्म संस्कार के लिए नहीं होगा उत्पत्ति विधि तो फल संबंध अभावे न नित्यादि रूपतया उत्पत्ति विधि फल संबंध नहीं नित्य कर्म करने के लिए अग्निहोत्र आदि तद विहित नाम संस्कारार्थत्व ऐसे जो कामना रहित कर्म संस्कार के लिए तो ऐसे कर्म करने पर कोई भी कर्म कर्म करे निष्काम होकर के सब अंतगुण शुद्धि अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है प्रमाण महा उत्पत्ति विधि विहिता नाम कर्म नाम संस्कार अर्थते प्रमाण महा वो संस्कार शुद्धि के लिए प्रमाण देते हैं देवयाजी श्रेयान आत्मयाजी वा इति उपक्रम देवयाजी देवान यजते इति देवयाजी तचिल देवताओं के याग करने वाले श्रेष्ठ है अथवा आत्मयाजी आत्मशुद्धि के लिए जो कर्म करता है आत्मयाजी श्रेयान कौन है इति उपक्रम्य आत्मयाजी तो करोति आत्मयाजी शुद्ध करता है श्रेष्ठ है इदम में अनेन अंगम संस्क्रियते इदम अंगम अनेन संस्क्रियते अनेन कर्मणा इदम अंग भी अंतकरण आदि शुद्ध होता है इति संस्कार अर्थत्वमेव कर्माणीति के यहाँ वाजसने शाखा में कर्म शुद्धि के लिए से कहा गया टीका में फल कामनया देवान यजते देवयाजी का तो फल की इच्छा से दो देवाओं का या करता है स किम श्रेयान वो तो आत्मशुद्ध्यर्थम अर्थमेव स्वर्ग स्वर्ग आदि आसंग मित्वा यो यजते स आत्मयाजी श्रेयान एक कर्म फल की इच्छा से कर्म करता फल कामना से करता है वो श्रेयान है अतः दूसरा होता है आत्मशुद्धि अंतकोण शुद्धि के लिए ही स्वर्ग आदि आसंगम हित्वा की शुद्धि होगी फल इच्छा में आसक्ति अभाव होने पर स्वर्ग आदि फल आसक्त फल इच्छा का त्याग करके ये जो या करता है स आत्मयाजी आत्मा की शुद्धि के लिए अंतकोण शुद्धि के लिए या करता है वो श्रेयान तो देवयाजी श्रेयान अथवा आत्मयाजी श्रेयान इससे प्रश्न करके उत्तर दिया आत्मयाजी श्रेयान इति निरूपितम शतपथे शतवत ब्राह्मण आत्मयाजी अंतकोण शुद्धि के लिए कर्म करता श्रेष्ठ है काम अनुपघात सहित में मम अंगम अनेन कर्मणा संस्कृतेति संस्कार अर्थत्वेन करोति न काम वसगे इत्यर्थ काम अनुपघात सहित काम से उपघात काम से युक्त नहीं हो करके कामना से पीड़ित युक्त नहीं हो करके काम संबंध रहित होकर जो कर्म करता है इदम मम अंगम अनेन कर्मणा संस्क्रियते ये मेरा अंग इस कर्म से संस्कृत होता है कर्म है अंग क्या अंतकोण अंतकोण इस कर्म से शुद्ध होता है इसी अभिप्राय से कर्म करता है संस्कार अर्थत्व ने संस्कार के लिए करता है न काम वशक कामना के अधीन होकर कर्म नहीं करता है वो शुद्ध श्रेष्ठ है महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयम क्रियते तनु ये मनुस्मृति का है यम तनु ब्राह्मी क्रियते तनु शरीर ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञान के लिए युक्त महायज्ञश यज्ञश महायज्ञ यज्ञ से शुद्ध होता है टीका में ब्राह्मी का तो ब्रह्म ज्ञान आ रहा ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य क्रियते तनु तनु क्रियते तनु तो शरीर तो यहाँ तनुस्थ आत्मा लक्ष्यते तनुस्थ आत्मा आत्मा का अर्थ भी अंतकर्ण शरीर में स्थित अंतकर्ण ही ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य किया जाता है क्रियते तनु शरीर शरीर का अर्थ तनु शरीर में स्थित अं-, अंतकण अंतकण योग्य होता है ज्ञान के लिए नन प्राणादि उपासनम प्राणादि भाव प्राप्ति अर्थमेव प्राणादि उपासना जो करेगा हिरण्यगर्भ उपासना करेगा तो हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त करेगा तेनो एतस्य देवताये सायुज्यम सलोकताम जयति एवं वेद तेनो ए इसी देवता ए तस्य देवताई चतुर्थ अंत षष्ठी अर्थ में इसी देवता का साइज्य समान रूप को प्राप्त करता है साइज्यम एक तो हो जाएगा सलोकता अर्थ समान लोक में वास को प्राप्त करता है उपासना के तारतम्य में इसे तारतम्य से फल कहा गया तो उपासना का फल तो हिरण्यगर्भ भाव प्राप्ति यथा उस लोक को जाना कथम उक्तम कर्म निर्वर्तक आश्रय प्राण उपासना सहितानि कर्माणि संस्कार थी कर्म संस्कार के लिए कोई बात नहीं उपासना तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए तो कैसे कहा कर्म का निर्वर्तक जो आश्रय प्राण कर्म का संपादक कर्म का आश्रय प्राण प्राण उपासना सहित तो कर्म शुद्धि के लिए ये कैसे कहा तत्र प्राणादि विज्ञान च भाष्य में यज्ञोदान दान तपस्व पावना मनुष्य नाम यज्ञ दान तपस्व मनुष्य बुद्धिमान के लिए पवित्र करने वाले पावना मनुष्य नाम इत्यादि स्मृतेश्च प्राणादि विज्ञानम च केवलम कर्म सहितम वा सकाम से प्राणात्म प्राप्त्यर्थमेव भवति अब प्राणादि विज्ञान हिरण्यगर्भ उपासना देवतादि ध्यान जितने की उपासना केवल कर्म समुचितम वा केवल उपासना करे कर्म समुचित उपासना भी करे किंतु कामना से करता है तो प्राणात्म भाव प्राप्ति है सकामस्य प्राणात्म प्राप्ति अर्थ में वह प्राण स्वरूप प्राणात्मा हिरण्यगर्भात्मक स्वरूप की प्राप्ति प्राप्ति के लिए ही उपासना है केवल उपासना हो कर्म सहित उपासना हो सकाम है तो तद्रूप फल प्राप्ति है किंतु निष्काम के लिए नहीं है निष्काम से तो आत्मज्ञान प्रतिबंध निर्माष्टी भवति निष्काम के लिए आत्मज्ञान का प्रतिबंध को नष्ट करने के लिए निर्माष्टी प्रतिबंध का शुद्ध निवृत्ति के लिए कर्म टीका में विविध दिशा यज्ञादि उपलक्षित से सर्वस्य कर्मण आत्मज्ञानार्थत्वेन विनियुक्तत्वात् उपासना से च मानस कर्मत्वात् आत्मज्ञान प्रतिबंधकस्य कल्मसस्य निवारण द्वारेण स्याद आत्मज्ञानार्थत्वमिति अर्थः विविध दिशा वाक्येन विविध दिशा वाक्य तम एतम वेदान वचन ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञ न दान ये विविधि सा वाक्य वेदानुवचन वेद अध्ययन यज्ञ दान तपसे विविधि सन्ति वेदितम इच्छन्ति ज्ञान का साधन है यज्ञ दान यज्ञेन दानेन सो तृतीया विभति करण है विविधि संति वेदितम इच्छन्ति वहां वेदन का साधन यज्ञ दान तप यज्ञ दान तपसो वेदन का साधन इच्छा का नहीं विविध संज्ञा जैसे गंतुमिच्छति जिगमिषति अश्वेन जिगमिषति कहेंगे अश्वन तृतीय अश्व गमन का साधन इच्छा का नहीं इसी प्रकार विविध संधि का तो वेदित्वम इच्छन्ति यज्ञेन दानेन तपसा यज्ञ दान तप ज्ञान का साधन है ये कहा गया विविधिशा वाक्य न यज्ञ दान जो दे दिया केवल यज्ञ दान नाम उपलक्षण है जितने कर्म सर्वस्य कर्मणा तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविध संत यज्ञ न दान न तपसा जितने कर्म सो कर्म सर्वस्व कर्म न आत्मज्ञानार्थत्व न विनियुक्तत्वाद यही विनियोग किया गया आत्मज्ञान ये विविधि संति ज्ञान का साधन है ब्रह्म सूत्र में आया सर्वापेक्षा से यज्ञादि श्रुति अश्वत सर्वेशा कर्मणाम अपेक्षा सारे कर्म निष्काम होकर करे अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए उपासना से जो मानस कर्म तो कर्म तो अंतकोण शुद्धि के लिए हुआ किंतु हिरण्यगर्भ उपासना अन्य उपासना वो कैसे ये तो शंका थी प्राणादि उपासना तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए वो कैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए होगा तो इसलिए कहते उपासना भी कर्म है उपासना से च मानस कर्म तो आद उपासना भी मानस कर्म है उपासना भी कर्म है कर्म कह देने से उपासना भी आ गया मानस कर्म है आत्मज्ञान प्रतिबंधक से कलमश से निवारण द्वारा आत्मज्ञान का प्रतिबंध होता है कलमश पाप है ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पाप से कर्म पाप कर्म बहुत होता है तो ज्ञान नहीं होगा ज्ञान क्या होगा ज्ञान का साधन श्रवण मनन आदि भी नहीं हो सकता है पाप कर्म के कारण आत्मज्ञान का प्रतिबंधक होता है कलमश वो कलमश निवृत्ति के द्वारा निवरण द्वारे न इसलिए जितने कर्म उपासना सेवा आदि है ये सब कलमस पाप निवृत्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए कलमस से निवारण द्वारा निवृत्ति के द्वारा स्याद आत्मज्ञानार्थत्वम उपासना भी कर्म सेवा जितने है सब आत्मज्ञान के लिए ज्ञान प्रतिबंधक पाप निवृत्ति के द्वारा इसलिए श्रवण काल में भी देवा आराधना करे उपासना करे सेवा करे सब करते करते अंतकरण शुद्ध होता है पाप निवृत्त होता है यही ज्ञान का प्रतिबंधक है श्रवणायापि बहुभ्रियो न लभ्य श्रवण के लिए भी प्राप्त नहीं होता है लगातार श्रवण नहीं कर पाते हैं पाप के कारण इसलिए सो आवश्यक है अज्ञा अभिप्रायण सप्रयोजनवाद तम प्रति अनारंभ प्रसंग आश्रय नहीं तो इति उक्तम अज्ञानी के लिए सब प्रयोजन है जो ज्ञान अज्ञानी है वो केवल स्वर्ग आदि के लिए कर्म करता है किंतु जो समझदार है विवेकी अंतकोण शुद्धि के लिए करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए तम प्रति अनारंभ प्रसंग अज्ञानी के लिए अनारंभ प्रसंग आश्रय ही नहीं तो उत्तम आश्रय ही न निराधार अज्ञानी के लिए अनारंभ कैसे होगा अज्ञानी तो कर्म करेगा फल प्राप्ति के लिए सप्रयोजन निष्प्रयोजन नहीं है कर्म का अनारंभ कब होगा यदि कर्म निष्प्रयोजन हो निष्प्रयोजन होगा कब निष्काम करेंगे तो अज्ञानी तो सकाम से कर्म करेगा सप्रयोजन है उसके लिए कर्म अनारंभ प्रसंग है ही नहीं उसके लिए कर्म अनारंभ प्रसंग ये कहना निराधार है आश्रय है ना मूल रहित है ज्ञानी अभिप्राण तो और ज्ञान होने के बाद कर्म करना व्यर्थ हो जाएगा ज्ञान होने के बाद कर्म का कोई प्रयोजन है तो व्यर्थ हो जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं व्यर्थ है इष्टापति ज्ञानी अभिप्राण तो अनिष्टापादन से इष्टापादक रूपत्वात् प्रसंगस्य अनिष्ट अनिष्टापादन से इष्टापादन रूपत्वाद ज्ञानी फिर कर्म नहीं करेगा ज्ञानी के लिए कर्म तो व्यर्थ है तो कहते जो अनिष्ट आपादन जो आपत्ति प्रसंग देते हैं अनिष्ट प्रसंग दिया जाता है यदि प्रसंग कहीं तर्क करते हैं अनिष्ट हो तो तर्क ठीक है नहीं तो इष्टापति दोष से तर्क का उत्थान नहीं होता है इष्टापति क्या है हृदय में यदि बनी नहीं होती तो हृदय में धूम नहीं होना चाहिए बड़ा जोर से कहा सुनने वाले डर जाएगा ना क्या कहेगा ठीक है हम तो कहते हृदय में बनी भी नहीं धूम भी नहीं कोई जोर से कहते अब यदि हृदय में बनी नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए तो क्या उत्तर दोगे इष्टापति जो आपत्ति आप दे धूम नहीं होना चाहिए ये आपकी आपत्ति है हृदय में बनी नहीं हो तो धूम नहीं होना चाहिए ये जो आपत्ति है ये आपत्ति हमको इष्ट है हमको चाहते हैं अनिष्ट का आपादन किया जाता है पर्वत में से धूम निकलता है दिखता है वहां आपादन करते पर्वत में बनी नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए हम कहेंगे इष्टापति सामान्य पर्वत से धूम निकल रहा है इष्टा कैसे कहे धूम निकल रहा है तो बनी नहीं तो धूम नहीं होना चाहिए धूम है तो बनी मानना पड़ेगा और कोई कहे हृदय में बनी नहीं हो तो धूम नहीं होना चाहिए ठीक है धूम भी नहीं है बनी भी नहीं है तो आपत्ति होता अनिष्ट आपादन और जो अनिष्ट आपादन किसको करता है वो कहता हमको इष्ट है क्या आपादन करते हैं वन्य नहीं हो तो हृदय में धूम नहीं होना चाहिए तो सुनने वाला कहे ये आपादन अनिष्ट है या इष्ट है इष्ट है कहने वाला तो अनिष्ट सोच कर करता है अनिष्ट आपादन से इष्ट आपादन रूपत्वाद अनिष्ट आपादन इष्ट आपादन हो गया इष्ट हो गया यदि ज्ञान कर्म त्याग करना है ज्ञान का विरोधी तो ज्ञानी के लिए कर्म व्यर्थ है ये जो अनिष्ट आपादनता है पूर्वपक्षी सिद्धांत कहता है ये आपादन हमको इष्ट है हम भी कहते ज्ञानी के लिए कर्म व्यर्थ है अज्ञानी के लिए व्यर्थ नहीं अज्ञानी के तो सब प्रयोजन है अज्ञानी के लिए कर्म का कोई प्रयोजन है है तो सकाम से करेगा तो स्वर्ग आदि फल प्राप्ति निष्काम हो करेगा तो अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति ज्ञानी के लिए कर्म का क्या फल है कोई प्रयोजन तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा तो ठीक है हमको इष्टापादन रूपत्व प्रसंग से आभा तो इसको प्रसंग नहीं कहते प्रसंग होता आभास सुनने पर लगता बड़ा अनिष्ट आपादन दिया प्रसंग जब हेतु दिया हेतु एक होता हेतु एक होता हेतु आभास असद हेतु को कहते हेतु आभास इसी प्रकार असत प्रसंग को क्या कहेंगे प्रसंग आभास हेतु देते हैं हृदय वनिमान वाष्पात वाष्प निकलता हृदय से निकलता है तो बनी होगी ये हेतु आभास दुष्ट हेतु है इसी प्रकार प्रसंग दिया हृदय में बनी नहीं तो धूम नहीं होना चाहिए ये प्रसंग नहीं हुआ ये प्रसंग आभास आपत्ति कुछ नहीं धूम तो मानते नहीं इसे जो प्रसंग दिया ज्ञानी के लिए कर्म व्यर्थ हो जाएगा तो ठीक है व्यर्थ हो तो प्रसंग सत नहीं हो ठीक उचित प्रसंग नहीं आभास हुआ अर्थात ये आभास कुछ नहीं अब ज्ञानी के लिए कर्म व्यर्थ ही हम मानते हैं आदर्श बत दर्पण का निर्मार्जन शुद्धि दर्पण शोधन जैसे करते हैं इसी प्रकार अंतकोण शुद्धि होती है कर्म के द्वारा उपासना के द्वारा उत्पन्नात्म विद्यस्य तु अनारंभो निरर्थकत्वात् उत्पन्न आत्म से उत्पन्न आत्मविद्या यस्य स उत्पन्न आत्मविद्य ऐसे जो ज्ञानी उसके लिए अनारंभ कर्म का आरंभ नहीं निरर्थकता कोई प्रयोजन नहीं है कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्या से विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतय पारदर्शिनः ये महाभारत शांति पर्व में है जंतु कर्मणा बध्यते कर्म से बंधन को प्राप्त करता है और विद्या से मुक्त हो जाता है तस्माद पारदर्शन यतय कर्म न पारदर्शी यति कर्म नहीं करते पारदर्शी पारम पश्यन्ति ते पारदर्शी अज्ञान के पार शुद्ध ब्रह्म को जानने वाले कर्म नहीं करते हैं क्रिया पथश्चैव पुरस्ता संन्यास उत्तरेण दो मार्ग बताया कर्म मार्ग पहले उत्तर आगे कर्म संन्यास तय संन्यास एव अत्यरे चयत दोनों में सन्यासी श्रेष्ठ सन्यास मार्ग श्रेष्ठ कर्म मार्ग की अपेक्षा यदि त्यागे का अमृतत्व मानस सुश्रुति का त्याग से कर्म ससाधन साधन के साथ ऐसा के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति नान्य पंथा विद्यते नाय ज्ञान के अतिरिक्त तो कोई मार्ग है ही नान्य मार्ग मोक्ष के लिए इत्यादि श्रुतिव्यश्च न्यायाच ज्ञान होने पर कर्म का कोई प्रयोजन नहीं ज्ञान ही केवल मोक्ष का साधन है उपाय भूतानि कर्माणि संस्कार द्वारेण ज्ञानस्य कर्म सब ज्ञान का उपाय साधन रूप है कर्म कौन से उपासना भी लेना कर्म उपासना ज्ञान का उपाय साधन है ज्ञान का साधन कैसे संस्कार द्वारे न ज्ञान का अंतरंग साधन तो श्रवण मनन ध्यान किंतु शुद्धि के द्वारा अंतकोण शुद्धि नहीं हो तो श्रवण आदि भी नहीं कर सकता है तो संस्कार शुद्धि के द्वारा साधन है कर्म ज्ञान का ज्ञान न तो अमृतत्व प्राप्ति ज्ञान से अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति है अमृतत्व में ही विंदते अमृतत्व प्राप्त करता है ज्ञान से विद्या विद्या विंदते अमृतम इत्यादि श्रुति स्मृति व्यश्च विद्या ज्ञान से अमृतम विंदते अमृत भाव प्रधान अमृतत्व मोक्ष प्राप्त करता है टीका में न केवलम श्रुति प्रामाण्य देव विवेकिन कर्मानारंभ साध्य सिद्धो साधनम नाद्रियते इति लौकिक न्यायच कर्मानारंभ सिद्ध इत्यर्थ उपरद्या इत्यादि श्रुतिभ्यश्च न्याय न्यायाच न्याय भी श्रुति प्रमाण्यादेव विवेकिन कर्मानारंभ इति न श्रुति है कर्म से कोई प्रयोजन नहीं ज्ञान होने के बाद विवेकी ज्ञानी के लिए कर्मानारंभ कर्म आरंभ नहीं श्रुति प्रमाण्य तो है केवल श्रुति प्रमाण से नहीं और क्या है न्यायाच न्याय क्या है साध्य सिद्धो साधर्म नाद्रियते साध्य प्राप्त हो गया तो साधन नदी पार हो गया नौका से आगे जब जाता है नौका को छोड़ कर जाता है जाना पड़ता है छोड़ देता है आगे जाता है इति लौकिक न्यायाच लौकिक न्याय कर्म कर्मा अनारंभ सिद्ध कर्म का अनारंभ ज्ञान होने पर ज्ञान फल कैवल्य अनुपयोगाच ज्ञानेन कर्मानारंभ इष्टैत्याह ज्ञान का फल कैवल्य मोक्ष मोक्ष के लिए कर्म का कोई उपयोग नहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म ज्ञान मिल गया घट बनाने के लिए दंड चक्र आदि आवश्यकता है घट बन जाने के बाद पानी रखने के लिए दंड चक्र आदि चाहिए नहीं फल प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं है दीप जलाने के लिए साधन की आवश्यकता दीप जलाने के बाद अंधकार निवृत्ति करने के लिए और कोई नहीं दीप मात्र से अंधकार की निवृत्ति इस प्रकार ज्ञान मात्र से कैवल्य आगे कोई कर्म का उपयोग नहीं है ज्ञानी न कर्म अनारंभ इष्ट इत्या नहीं स्वभाव सिद्ध अच्छा पहले रह गया नहीं नद्या पारगो नाव न ना मुंचति यथेष्टा देश यथेष्ट देश गमन प्रति स्वातंत्र सति नदी यदि जब तक तो पार नहीं क्या तो, तो नाव कहाँ बैठा है उठता नहीं पारग पार जाने वाला नाव न ना मुंचति यथेष्ट देश गमन के लिए स्वतंत्र हो गया पार चला गया आगे नौका में बैठ रहेगा तुरंत तो पहले उठ जाएगा पहले भागेगा आगे आगे निकलने के लिए सब भीड़ हो जाती उतरने के लिए बैठने के लिए भी भीड़ उतरने के सब पहले कैसे निकले नाव न मुचति तेन यथेष्ट से गमन के प्रति स्वतंत्र हो गया छोड़ देता है नहीं स्वभाव सिद्धम वस्तु सिसाधयति साधन ही स्वभाव सिद्ध वस्तु को साधन से कोई करना नहीं चाहता है स्वभाव से सिद्ध है तो साधन क्यों स्वभाव सिद्ध से आत्मा आत्मा स्वभाव सिद्ध इसे उसको साधन से प्राप्त करना नहीं चाहता है तथा न आपी परिस्थित आपी आप प्राप्ति करने की इच्छा उत्पत्ति तो नहीं आपति टीका में दिया उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति चैति चतुर्विधम कर्म का फल चार उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति ये चार प्रकार क्रियाफलम कर्मफल किंतु ये चार में से कोई स्वरूप अवस्थान कैवल्य न संभवती उत्तम कैवल्य स्वरूप अवस्थानम स्वरूपेण अवस्थानम अपने स्वरूप में रहना और कुछ नहीं है ये कैवल्य उसके लिए कुछ कर, कर्म की आवश्यकता नहीं है प्राप्त करने के आत्मा प्राप्त करने के योग्य नहीं क्यों अपना स्वरूप आत्मत्व सत्य नित्याप्तत्वात् वो तो आत्मा है अपना स्वरूप है नित्य प्राप्त है जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए कोई कर्म किसी की आवश्यकता नहीं नापि विचिकार स्थित विकार करना है आत्मा को कोई विकार करना है सोमरस निचोड़ते हैं ऐसे कुछ विकार करना है दूध दही बनाते ऐसे प्रकार विकार करने की इच्छा नहीं आत्म तो सत्य नित्यत्वाद अविकारित्वाद अविषयत्वाद अमृतत्वाद आत्मा है नित्य है विकारी नहीं आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं अमूर्त नहीं इसलिए वह नाम विकार का विकार करना चाहता है और संस्कार भी नहीं का शुद्ध है अमृत मूर्त हो नहीं है मूर्त द्रव्य हो तो उसको कुछ विकार करना है अमृत है कोई विकार हो नहीं सकता है श्रुतेश्च श्रुति भी प्रमाण है न वर्धते कर्मणा अनुकन्यान किसी भी कर्म से आत्मा में कुछ वृद्धि शुद्धि कुछ उत्कर्ष होता ऐसा नहीं है आत्मा में कुछ नहीं होता हाँ, अंतकरण में शुद्ध हो शुद्धि होती है आत्मा में कुछ नहीं पुण्य पाप कर्म से भी आत्मा में ह्रास बुद्धि कुछ नहीं है स्मृतेश्च अविकार्यो मुच्यते आत्मा अविकार्य विकार्य नहीं है ये हो गया विकार नहीं होगा इसके यहाँ तो बता दिया उत्पत्ति आति विकृति आगे संस्कृति संस्कार न च संचिकीर्षित संस्कार करने की इष्ट नहीं है आत्मा क्योंकि आत्मा शुद्ध है शुद्धम अपाप विद्धम इत्यादि श्रुतिभ्य स्वभावत शुद्ध है पाप रहित है इसलिए संस्कार भी करने का नहीं यदि च परमानंद गुणस्य आत्मनि आदानम न च वस्तंत्राधान परमानंद गुणस्य से आत्मनि आधानम ब्रह्मांडाद बहिस्थित ब्रह्म प्राप्तिर्वा जीवस्य से कैवल्यम कल्प्यते यदि च यदि च तरी अनित्यतम दुर्वारमित्याह कोई कहते हैं ज्ञान मात्र से क्या मिलेगा परम मोक्ष परमानंद गुण आत्मा में उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मांडाद बहिस्थित ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मांड के बाहर है ब्रह्म है उसको प्राप्त करना पड़ेगा तब आत्मा में परमानंद गुण उत्पन्न होगा परमानंद गुण प्राप्त करेगा कोई कहते ज्ञान हो गया तो परमानंद को आनंद को प्राप्त करेगा परमानंद प्राप्त कर नहीं करेगा नहीं तो परमानंद को प्राप्त करेगा तो अनंत आनंद को प्राप्त नहीं करेगा भेद करना चाहते हैं परमानंद गुण का आत्मनि आधान आत्मा में उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मांड में बाहर स्थित ब्रह्म उसकी प्राप्ति करनी चाहिए स्थित ब्रह्म प्राप्तिर्वा जीव से कैवल्यम एक आनंद गुणों से आत्म ने आत्मा में परमानंद गुणों की उत्पत्ति ये कैवल्य मानेंगे अथवा ब्रह्मांड में बाहर स्थित ब्रह्म को प्राप्त करने से कैवल्य होगा जीव से कैवल्यम दो प्रकार शंका या तो आत्मा में परमानंद गुणों की उत्पत्ति हो तो कैवल्य होगा नहीं तो ब्रह्मांड के बाहर जो ब्रह्म ब्रह्म है उनको प्राप्त करें तो बोले होगा एते तो न कल्प्यते यदि कल्पना करें यदि यदि से कल्प्यते यदि से कल्पना करेंगे अरे अनित्यत्व दुर्वारम अनित्य हो जाएगा यदि कुछ गुण उत्पन्न होगा तो नष्ट हो जाएगा और कहीं प्राप्त करना है तो नष्ट हो जाएगा स्वभाव सिद्ध नित्य है केवल अज्ञान हट जाना इतने ही है और कुछ नहीं नच अनन्यत्वाच अपने से अभिन्न है उसको प्राप्त आदि संस्कार आदि करने कुछ नहीं अन्येन अन्यत संस्क्रियते न च आत्मनो अन्यभूता क्रिया अस्ति अन्य के द्वारा अन्य का दर्पण का संस्कार शुद्ध होता है मार्जन के द्वारा आत्मा से अन्य कोई क्रिया है ही नहीं आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं ना कोई द्रव्य गुण क्रिया जीव जड़ कुछ भी नहीं आत्मा अनात्मा विवाह करते हैं अनात्म से आत्मा को पृथक समझने के लिए वस्तुतः आत्म ज्ञान होने पर आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा वस्तु कोई बिना है नहीं अधिष्ठान से अध्यस्त अतिरिक्त नहीं अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त नहीं है इसलिए आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं है न च न आत्मना आत्मा न संचिकित संचिकित अपने से अपने कोई संस्कार करेगा ये भी नहीं एक ही आत्मा वो अपने अपने को संस्कार करे ऐसा नहीं न च वस्तु अंतराधानम नित्यम प्राप्तिर्वा वस्तु अंतर से नित्या अन्य वस्तु का आधान उत्पत्ति यदि आत्मा में अनंत गुण परमानंद की उत्पत्ति मानेंगे वो नित्य नहीं होगा अन्य वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे तो नित्य नहीं होगा वस्तु अंतर से प्राप्तिर्वा नित्या दूसरे वस्तु की प्राप्ति है नित्य हो भी नहीं सब लोग सौवादी मोक्ष को नित्य मानते हैं नित्यत्म चेष्टम मोक्षस्य मोक्ष नित्य है अतः उत्पन्न विद्यस्य कर्मानारंभो अनुपन्न कर्म आरंभ अनुपन्न इसलिए जिसको ज्ञान हो गया उत्पन्न विद्या से उत्पन्न विद्या तस् कर्म आरंभ न युक्त कर्म आरंभ नहीं करेगा अतो व्यावृत बाह्य बुद्धेर आत्मविज्ञानाय केनचितम इत्यादि प्रत्यारंभ बाह्य विषय से जो व्यावृत हो गया विरत हो गया वो आत्मजिज्ञासा उनसे आत्मज्ञान के लिए उसके लिए के निशितम इत्यादि उपनिषद का आरंभ किया जाता है ओम आप्यायन्तु ममांगानि